और यूं कहते हैं कि इन चौपायों और खेतियों पर पाबंदी लगी हुई है इनका जाम यह है कि इनको सिवाय उन लोगों के कोई नहीं खा सकता जिन्हें हम खिलाना चाहें और कुछ चौपाए ऐसे हैं जिनकी पुश्त हराम करार दे दी गई है और कुछ चौपाए वो हैं जिनके बारे में अल्लाह पर यह बोहतान बांधते हैं कि उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते जो इफ्तरा परदाजी ये लोग कर रहे हैं اللہ انہیں قریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا